गरज कितनी बस्तियां थीं जिनको हमने उस वक्त हलाक किया जब वो जुल्म कर रही थीं चुनाचे वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं और कितने ही कुएं जो अब बेकार हुए पड़े हैं और कितने पक्के बने हुए महल जो खंडर बन चुके हैं